दाऊद ने कहा इस शख्स ने तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिलाने का मुतालबा करके तुम पर जुल्म किया है और बिलाशुबा बाहम शराकत दारों में से अक्सर यकीनन एक दूसरे पर ज्यादतियाँ करते हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए और ऐसे लोग बहुत कम हैं और दाऊद समझ गया कि यकीनन हमने उसका इम्तिहान लिया है चुनाचे उसने अपने रब से बख्शिश मांगी और रकू करता हुआ गिर गया और उसने रजू किया